या छांदो के परिषद द्वितीय अध्याय दसम खंड का कुछ विचार हुआ है जिसमें सप्तविद शाम की उपासना की चर्चा थी आगे फिर विशेष विशेष नाम लेकर के गायत्र शाम रथम दर शाम बैराज शाम सतपुरी शाम ऐसा ऐसा नाम लेकर के कोई पंचविद उपासना होगी आगे उन शामों के नाम देंगे तब तक शाम का एक एक नाम होगा किसी का गायत्र शाम किसी का होगा रैवत्य शाम किसी का सत्वर शाम आदि आदि किसी का वाम रेपेशम ऐसा नाम देंगे और पंचविद उपासना चलना है इस प्रकार से चलता जाएगा बीसों इक्कीसवें खंड तक चलेगा उसके आगे बाईसवें खंड से फिर अलग आरंभ होगा उस यह है मंत्र है मनोहिंकारो प्रस्ताव चक्षुरुदी श्रोत्र प्रतिहार निधनम एतद्गायत्रम् प्राणेषु प्रोतम् मनोहिङ्कारो प्रस्तावः चक्षुरुद्गीतः गोत्रम् प्रतिहारः प्राणो निधनम् एतद्गायत्रम् प्राणेषु यही प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार निधन यही पांच पंचवित शाम की उपासना है किंतु इस शाम को कहते हैं गायत्र शाम इस शाम का नाम है गायत्र शाम कैसा होगा दिखाते हैं मनोहिंकार मन को हिंकार समझना मन दृष्टि से हिंकार की उपासना करना बाघ दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करना चक्षु दृष्टि से उद्गीत की उपासना करना श्रोत्र दृष्टि से प्रतिहार की उपासना प्राण दृष्टि से निधन की उपासना ये तद गायत्रम प्राण से ये गायत्र शाम है ऐसा उपासना को गायत्र शाम कहते हैं ये प्राण में प्रतिष्ठित है ये गायत्र शाम कहा टीका में कहते हैं ननो पंचविद से शब्दविद से सामनो ध्यानम व्याख्यात पंचविद शाम की ध्यान मान उपासना व्याख्या हो गई और सप्तविद शाम की भी व्याख्या हो गई उपासना व्याख्या हो गई पंचविदस्य सप्तविदस्य च पंचविद शाम के और सप्तविद शाम के शाम ध्यानम माने उपासनम व्याख्या व्याख्या हो गई तथा से ज्ञात विषय वक्तव्य वादी जानने योग्य विषय दो ही थे पंचविद और सप्तविद शाम थे ज्ञात ज्ञातव्य विषय ज्ञात विषय में जो जानने योग्य विषय में वक्तव्य कुछ रहा नहीं ज्ञात हो गए सब पंचविद और सप्तविद शाम पूरे हो गए तथा ज्ञात विषय वक्तव्य अभाव वक्तव्य को शेष नहीं है इसलिए अलम अंतर ग्रंथ है ना आगे के ग्रंथ से पर्याप्त बस क्या करना आगे ग्रंथ ये शंका आगे यदि आशंका पूर्वोत्तर ग्रंथ है और अर्थभेद महा पूर्व में जो बताई गई उपासना और अब बताने वाली उपासना में अर्थभेद है उपासना तो वहां भी रहा है यहाँ भी रहा है किंतु अर्थ में भेद है पहले नाम का ग्रहण नहीं लिया था अभी नाम कहेंगे पहले गायत्र रथंतर बैराज आदि नाम नहीं दिया था अभी नाम पूर्वक करेंगे एक अर्थभेद है एक अन्य चाहते हैं ये भाषण में कहा बिना नाम ग्रहणम पंचविद से सप्तविद से सामना उपासना होता बिना नाम कहे पंचविद शाम की उपासना बताई सप्तविद शाम की उपासना बताई किसी का नाम नहीं बताया पूर्व में ये गायत्र है रथंतर है ऐसा कोई नाम नहीं दिया किंतु अब नाम देंगे ये विशेष है बिना नाम ग्रहणम पंचविदश से सप्तविद उपासना सामना उत्तम नाम का ग्रहण किए बिना ही नाम लिए बिना ही पंचविदशाम और सप्तविदशाम की उपासना कही गई चाहिए अथ इधानी अब एकादश खंड में क्या कहना चाहते हैं गायत्रादि नाम ग्रहण पूर्वक गायत्र शाम बैरा शाम आदि आदि नाम ग्रहण पूर्वक गायत्रादि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फलानी ऐसा नाम ग्रहण करते विशेष फल होगा उसको ऐसे उपासक को विशेष फल मिलेगा विशिष्ट फलानी शाम उपासनांतराणी विशेष फल वाले जो शाम की उपासना अन्य उपासना है पूर्व उपासना से भिन्न उपासना उच्चनते कहा ऐसे उपासना कहे जाते हैं यथाक्रमम आदि नाम कर्मणी प्रयोग जैसे कर्म में कहीं गायत्र शाम का प्रयोग होता है हाँ, कहीं रथंतर शाम का प्रयोग होता है कर्म में क्रम होता है उनका पहले गायत्र का होगा फिर रथंतर होगा बैराज होगा सत्पुरी होगा क्रम होगा उनका भावदेव के होगा एक क्रम बनता है वहां कर्म कर्म में यथा क्रम जैसे क्रम यहां जैसे करेंगे वैसे क्रम से यथा क्रमम गायत्र आदि नाम जो गायत्र आदि शाम होगा कर्म नहीं प्रयोग कर्म में प्रयोग होता है पांच प्रकार के शाम की चर्चा होगी कर्म में प्रयोग होता है उनका तथा वो उसी प्रकार यहाँ भी यहाँ भी पांच है मन है और बाक है चक्षु है स्त्रोत्र है प्राण है ये पांच है तो यहां भी क्रम से लेना है पहले मन उसके बाद वाक उसके बाद चक्षु उसके बाद स्रोत्र उसके बाद प्राण ये क्रम लेना ही बोलते हैं जैसे वहां गायत्र आदि का क्रम है शाम में उसी प्रकार यहां भी प्राणों में भी ऐसा लेना मन वाक चक्षु स्रोत्र प्राण क्रम लेना ही कहा यथाक्रम गायत्री का नाम कर्म नाम प्रयोग है गायत्र आदि का जैसे कर्मों में प्रयोग है क्रमपूर्वक है उसी प्रकार तथा ही मनोहिंकार हो मन दृष्टि से हिंकार की उपासना करनी है मनसा सर्वकर्ण वृत्ति नाम है देखो मन के बिना कोई भी इंद्रिया काम नहीं कर सकती है सभी कर्णों में उपयुक्त है मन उपयोगी है देखते हुए भी नहीं देखता मन यदि चक्षु के साथ संबंध नहीं रखता है तो देखता हुआ भी नहीं देखता सुनता हुआ भी नहीं सुनता यदि श्रोत्र के साथ मन का संबंध नहीं है तो नहीं सुन सकता तो सभी करणों में इंद्रियों में मन की श्रेष्ठ प्रथमता है प्राथम्य है प्राधान्य उसका इसी प्रकार यहाँ प्राथम्य हिंकार में है उधर प्राथम्य मन में है ये सादृश्य है इसका इसलिए मन दृष्टि से हिंकार की उपासना करना ये कहा मनो हिंकारो मनस सर्वकर्ण वृत्ति नाम प्रार्थना चाहे चक्षु वृत्ति हो चाहे स्रोत्र वृत्ति हो चाहे घृण वृत्ति हो रसना वृत्ति हो कोई भी इंद्रियों की वृत्ति होगी उस वृत्ति में मन के बिना नहीं होता प्राथम्य है उसके बिना कोई इंद्रिय का काम नहीं होती है कोई भी किसी भी इंद्रियों से अपना कार्य करना हो तो मन संलग्न होना चाहिए नहीं तो अन्यत्र मना भवम न दर्शन ऐसा बोलता है मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने दे, नहीं देखा इसलिए मनसा परिस्थिति मनसा हाँ, इत्यादि आया सब कुछ मन ही है मन से ही देखता है ऐसा तद आनंतरियात बाक प्रस्ताव मन के बाद में बाक है और वहां इंकार के बाद प्रस्ताव है तो मन के बाद पानी होने से तद अनंतर है मन के अनंतर होने के कारण वाक प्रस्ताव वाक दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करना है और चक्षुर उदगीत श्रेष्ठ है इंद्रियों में श्रेष्ठ है चक्षु वाणी वाणी आग के बिना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है वाणी के बिना तो काम चला सकता है गोगा व्यक्ति काम करता है अपना ज्यादा परेशानी कान न होने पर कोई परेशान नहीं होते निंदा स्तुति सुन नहीं पाएगा बस बाकी कुछ भी कर सकता है वो स्रोत्र की इतनी आवश्यकता नहीं है किंतु चक्षु के बिना रसना काम करना छोड़ दे स्वाद पता नहीं लगा खाएगा तो सही रसना की कोई इतनी अपेक्षा नहीं है तो किंतु वाणी के चक्षु के बिना कोई काम नहीं हो सकता है चक्षु की श्रेष्ठता है यदि ये कहा चक्षुर उद्गीत चक्षु दृष्टि से उद्गीत उपासना में श्रेष्ठ माने हिंकार आदि में उदगित श्रेष्ठ है और इधर इंद्रियों में चक्षु श्रेष्ठ है चैत्या सादृश्य श्रेष्ठता है श्रोत्रम प्रतिहारा प्रतिहृतत्व कहा श्रोत्र दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करते हैं क्यों श्रोत्र में शक्ति है चक्षु तो सामने वाले में देखती है पीछे नहीं देख सकती श्रोत्र पीछे का शब्द भी सुनता है चारों तरफ का दसों दिशा का शब्द सुनता है उसमें प्रतिहरण करने की शक्ति है प्रति शब्द सामान्य है स्रोत्र प्रतिहार प्रतिहृतत्वाद का स्रोत्र को प्रतिहार समझना क्यों ये भी प्रतिहरण करता है शब्दों का ग्रहण करता है दसों दिशाओं के शब्दों को लेने की शक्ति है इसमें प्राणो निधन प्राण निधन है क्योंकि हिंकार आदि में अंतिम है निधन और यहाँ अंतिम प्राण निधन माने क्या है यथोक्ता नाम प्राण निधन शुभ काल पूर्वोक्त इंद्रियों का सुसुप्ति अवस्था में प्राण में निधन हो जाता है समाप्ति हो जाती है सुसुप्ति में कोई इंद्रिया काम नहीं करती प्राण रह जाता है यथोक्त आराम इंद्रियाणाम यथोक्त इंद्रिया पूर्वोक्त इंद्रियाएं मन हो बाक हो चक्षु हो स्रोत्र हो सबका प्राण में निधन हो जाता है प्राण में एक हो जाता है सुसुप्ति काल में प्राण चलता है भी इंद्र काम नहीं करती कोई भी मन भी काम नहीं करता स्वाप ऊर्जा सुशुद्धिकाल काल में देखा गया ये तत् गायत्रम साम प्राणेशु प्रोतम रहा ये जो गायत्र शाम इसका नाम है गायत्र शाम और प्राण में प्रतिष्ठित है ये सब प्राणों के साथ है इंद्रियों को भी प्राण बोलते हैं प्राण आप अर्थात प्राण शब्द श्री इंद्रिया भी आती है गौण प्राण है मुख्य प्राण अलग है गायत्री प्राण सस्तुतात है माने गायत्री ऋचा के द्वारा प्राण की स्तुति होती है प्राण रूप से गायत्री की स्तुति की गई है प्राणो वही गायत्री ऐसा कहा है प्राण रूप से गायत्री की स्थिति की है ये कहना है टीका में कहते हैं यथाक्रम ए, ए नाम कर्मणी कर्मणि प्रयोगान कैसे प्रयोग होगा कहते हैं क्रम कैसे जैसे यहां पर सबसे पहले गायत्र शाम है उसके बाद में आएगा रथंतर शाम ये क्रम चलेगा यहाँ कर्म में प्रयोग हो रहा है इसलिए कहा गायत्रम रथंतरम इत्यादि नाम ग्रहण है ना विशिष्टानी विशिष्टानी फलानी च इत्यादि विशिष्ट फल प्राप्त होगा गायत्र नाम के द्वारा क्या फल होगा दिखाएंगे अभी अगले अगला मंत्र फल वाक्य आएगा रथंतर शाम कहेंगे उसका भी फल विशेष होगा सब तो विशिष्ट विशिष्ट फल वाली उपासना है ये क्या फल मिलेगा आगे बताएंगे कहते हैं कथम पुनर्भक्षमाणेश उपासनेश निर्देश क्रम सिद्धि आगे की जो उपासना है इसके साथ में क्रम का निर्देश कैसे होगा क्रम जो बताया पहले गायत्र उसके बाद रत्न तक इत्यादि जो क्रम आएगा फिर वामदेव्य हाँ। फिर बैराग फिर सबको ऐसे ऐसे नाम आएंगे यहाँ तो ये क्रम उन कर्मों में कैसे प्रयोग होगा क्रम से जो शंका आ गई कथम पुनर्भक्षमाणेश उपासनेशु जो आगे कहे जाने उपासना में निर्देश क्रम सिद्धि जैसे निर्देश है उसे क्रम की सिद्धि कैसी होगी कहा यथा क्रमम गायत्रादि नाम कर्म नहीं प्रयोग जैसे कर्मों में गायत्र रथम दर वामदेव्य आदि का क्रम से प्रयोग होता है कर्म कर्म करते समय वैदिक कर्म में तथा एवं मनोहिकार इत्यादि बताया ठीक है कहते हैं यादृशम क्रमम आश्रित तेसाम ही प्रयोग जिस क्रम को लेकर के इन गायत्रादि शाम का वहां कर्म में प्रयोग होता है कर्मिणाम क्योंकि जो कर्म करने वाले लोग हैं कर्मी वैदिक कर्म करने वाले कर्मी लोग हैं उनका गायत्रादि शाम का वहां उद्गान होता है यादृशम क्रम आश्रित जिस क्रम को आश्रय लेकर के तेषाम गायत्रादि नाम कर्मणि प्रयोग कर्मीणाम कर्म में कर्मियों का प्रयोग होता है इष्ट कर्मियों को इष्ट है जो प्रयोग तेन क्रमेण तद उपासना यह उसी क्रम से उपासना रखेंगे गायत्र शाम के बाद रथंतर आएगा फिर वामदेव भी आएगा फिर बहिरा सबको ऐसा क्रम रखेंगे वहां उसी क्रम से कर्म में प्रयोग होता है कर्मियों के यहाँ एक शाम होगा सबसे पहले गायत्र शाम का गान होगा फिर रतंत्र का गान होगा ऐसा चलता है कर्मियों के ये कहा यादृशम क्रमम आश्रित तेषा मान गायत्रादि नाम कर्मणि प्रयोग कर्मिणाम इष्ट कर्मियों को इष्ट है तेरह क्रम है उसी क्रम से तद उपासना होती तीर्थ यहां भी उसी क्रम से उपासना रखनी है पहले गायत्र फिर रथंतर उसी प्रकार है तत्र अप्राण से क्रिया ज्ञान और असंभवात प्राण से प्रधानत्वात तदृष्टिया उपास्ती आदो दर्शेगी कहते देखो अप्राण से जिसके प्राण नहीं होगा मृत शरीर होगा अप्राण से जिसके न विद्यते प्राण उससे सा अप्राण प्राण निकल गए जिसके अप्राण होगा क्रिया ज्ञान और असंवाद वो न तो कर्म कर सकता है अप्राण व्यक्ति प्राण रहित व्यक्ति न उपासना ज्ञान मन उपासना कर्म भी नहीं कर सकता उपासना भी नहीं कर सकता इसलिए श्रेष्ठता प्राणों की है जब तक इंद्रिया है प्राण है तभी तक वैदिक कर्म करेगा उपासना करेगा उसके पश्चात नहीं कर सकता अप्राण व्यक्ति नहीं कर सकता ये कहा प्राण की प्रधानता अप्राण से क्रिया ज्ञान और असंवाद जो प्राण रहित व्यक्ति है वहां प्राणहीन का कर, क्रिया माने कर्म और ज्ञान माने उपासना दोनों असंभवात उपासना भी नहीं कर सकता वो प्राण रहित व्यक्ति इसलिए प्राण से प्रधानत्व प्राण की श्रेष्ठता है उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता कर्म करना हो तभी प्राण चाहिए उपासना करनी हो तभी प्राण चाहिए तो इसलिए तद दृष्टिया गायत्र उपासना आदर कैसे प्राण दृष्टि से यहां गायत्र उपासना सबसे पहले रखते हैं उसकी प्रधानता है तो प्राण माने इंद्रिय सहित है यहां इंद्रियों को भी प्राण शब्द ने कहा मरोहिंकारो बाघ प्रस्ताव इत्यादि शब्द से सब प्राण शब्द लिया मनोहिकार इत्यादि का बताया कहते हैं <clears throat> अंतिम वाला कहा था प्राणो निधनम बोला था प्राण दृष्टि से निधन की उपासना करने कहा था कैसे प्राण निधन होगा कहते हैं प्राण में वाक अप्येति हाँ चक्षुर अप्येति इत्यादि सुनती है जब ये संवर्ग विद्या में आएगा वो आगे प्राणम एवं वाक अप्येति सुसुप्ति काल में वाणी प्राण में लीन हो जाती है चक्षु उसी प्राण में लीन हो जाती है ग्राण सारे इंद्रिया उसी में मन भी लीन हो जाता है सुसुप्ति काल में ऐसा कहा है प्राणम एवं अत्यत इत्यादि श्रुतिया स्वाप काले प्राणे बाघादि नाम निधन अवधेय माने निधन माने मृत्यु है बाघादियों का सब वहां स्थापित हो जाते हैं सारे प्राण में एक हो जाते हैं सुसुप्ति काल में इसलिए निधन शब्द से प्राण लिया जाएगा ये कहा प्रोतम कहा है एतद गायत्रम प्राणेशु प्रोतम प्र ऊतम प्रोतम ऐसा है तो यहां प्रोत माने क्या है तो कहा प्रोतम जो कहा इसके लिए कहते हैं प्रगतम प्रतिष्ठितम विद्यावत विशेष रूप से प्रतिष्ठित होते हैं तो प्राण में प्रतिष्ठित है विशेष रूप से ये कौन ये जो गायत्र शाम गायत्र शाम प्राण में प्रतिष्ठित है विशेष रूप से कहा गायत्र से प्राणेश प्रतिष्ठित हेतु गायत्र शाम प्राण में प्रतिष्ठित होने पर एक हेतु देते हैं क्या हेतु है गायत्री प्राण संस्थित आया माने प्राणो वही गायत्री इति श्रुति प्राणो वही गायत्री ऐसा आया है प्राण को गायत्री शब्द से कहा है इसलिए शिव प्राण उपासना है यहाँ किंतु गायत्र नाम दिया है उपासना को गायत्र शाम करते हैं आगे फलवाक्य है सया गायत्रम प्राणेशु प्रोतम वेद प्राणी भवती सर्वम आयुरेति युग प्रजया पशुभिर्भवती महां कीर्त्या महामना सैत्तव्रतम स एवं एतद् गायत्रम् वेद प्राणी भवति सर्वम् आयुरेति यं जीवति प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या महामनः स्यात् तद्व्रतम् स जो कोई भी हो एवं एतर गायत्रम प्राणेशु प्रोतम बता इस प्रकार पूर्व मंत्र में कहे जो गायत्र शाम है प्राण में प्रतिष्ठित है ऐसा जो समझता है गायत्र शाम को वेदा मन जानता है प्रतिष्ठित है समझता है जानता है प्राणी भवती अविकल इंद्रिय वाला होगा उसके इंद्रिय विकल नहीं होंगे चक्षुरादि ठीक ठीक रहेंगे आजीवन ऐसा होगा कोई भी विकल नहीं होगी इंद्रिया प्राणी भवती प्राण वाला होगा प्राण मैंने इंद्रिया वाला होगा सर्वम आयु यदि पूर्ण आयु जीवन प्राप्त करेगा अल्पायु नहीं होगी उसकी पूर्ण आयु शतवर्ष है शतवर्ष तक जा सकता है सर्वम आयु यदि जो विधाता का लिखा हुआ आयु पूरा करके जाएगा अल्पायु नहीं होगा योग जीवती जीवन उज्जवल होगा उनका प्रकाशमय जीवन होगा योग शब्द है उज्जवल अर्थ में होता है उज्जवल जीवन होगा लोग वाहवाह करेंगे उसको सुन करके उसके नाम सुन करके और महान प्रजया पशु पशु भी प्रजया महान भवती पशुओं के द्वारा बहुत पशु उसके घर में होंगे महान बनेगा पशुओं की संपत्ति पशु संपत्ति से और प्रजा संतान से भी महान होगा बहुत संतान होंगे उसके दूसरा महान कीर्तिया और कीर्ति ख्याति से भी वो महान होगा ये कहा महान भवती महामनाश्या तत्प्रथम किस लिए उसके लिए व्रत है गायत्र शाम की उपासना जो करेगा उसके लिए व्रत है उदार चित्त वाला होगा कृपण चित्त वाला न हो महामनाश्या महामनो यश महामना विशाल हृदय वाला हो उदार मन वाला हो कृपण न हो उसके लिए व्रत है ये गायत्री शाम की उपासना करने वाला हो तस्य व्रतम तब व्रतम उसका ही व्रत है भाष्य में कहते हैं स या जो कोई भी हो एवं ये तद गायत्रम प्राणी सुप्रोतम वेद प्राणी भवती कहा जो कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार पूर्व मंत्र में कथित जो गायत्र शाम है प्राण है प्रतिष्ठित है ऐसा जो जानता है वो प्राणी होगा प्राणी भवती का अर्थ अविकल करणो भवती इत्यर्थ हाँ, जिसके कारण इंद्रिया हैं बाह्य करण अंतकरण जितने भी करण हैं विकल नहीं होंगे प्राण में भी विकलता है प्राण में विकलता हो जाती कभी क्या तो श्वास की बीमारी लग जाती है विकलता आ जाता है ऐसा नहीं होगा सभी सत्र तत्व जो कर्म है पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि सब कोई विकल नहीं होगा पागल हो गए तो बुद्धि विकल हो गई ऐसा नहीं सब ठीक रहेगा उसके और सर्वम आयु रहती संपूर्ण आयु को प्राप्त करेगा वो और संपूर्ण आयु कितनी है उसकी कहते हैं शतम वर्षाणी सर्वम आयु पुरुष से ऐसा श्रुति है कहीं हाँ, सौ वर्ष जो होते हैं सर्वायु पुरुष की मान मनुष्यों की आयु सौ सौ वर्ष की होती है ऐसे स्थिति बोलती है कहा जोग जीवती आया आगे जोग माने होता है उज्जवल उज्ज्वल असम जीवती ख्याति प्राप्त होकर के जीवन प्राप्त करेगा कोई निंदा नहीं करेगा उसकी उज्जवल जीवन है वो आदर्श जीवन जिसको आदर्श जीवन होगा बोलते हैं ऐसा होकर के जीवन व्यतीत करता है जो गायत्र शाम की उपासना करने वाला और महान भवती प्रजादिभीर महाश कीर्तिया प्रजा से पशु से कीर्ति से ख्याति से महान होता है वो उसके यहाँ पशु भी बहुत होंगे और संतान भी बहुत होंगे और ख्याति भी बहुत ख्याति होगी गायत्र उपासक से एतत् व्रतम भवती गायत्र शाम के उपासकों को ये व्रत होता है क्या व्रत एक व्रत है उसके लिए क्या व्रत है महामना अक्षुद्र चित्त क्षुद्र बुद्धि वाला ना हो उदार अंतकरण वाला हो इदम मम परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो पशुधैव कुटुम्बकम ऐसा नीति शास्त्र की बात है यह मेरा है यह पराया है यह बुद्धि जो है ये क्षुद्र चित्त वालों की है इदम मम परो बेटी ये मेरा है ये पराया है ऐसा जो बुद्धि होगी भेद बुद्धि यह है लघु चेतसाम कृपण बुद्धि वाले का है तुच्छ बुद्धि वाले का है उदार चरिता नाम तो जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनका तो वसुधा एवं कुटुंब सारे धरती ही उनकी कुटुंब है और कोई भेदभाव नहीं होता सब उनके परिवार है ऐसा कहा गया है विधि शास्त्र इदम मम परोपेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब ऐसे महा उसके लिए ऐसा होना चाहिए वसुधैव कुटुम्बकम वाली उदार चित्त वाला होना चाहिए ये जो गायत्र शाम के उपासक लिए उपलब्ध है ये कहा टीका में कहते हैं अविदेशो भी प्राणी तो सिद्धेर नेदम विद्या बलम विधि आशंका महाराज शरीर तो सभी का प्राण तो सबका होता है और अशेषित प्राणी उपासक नहीं है वो भी तो प्राणी रहता है प्राण वाला ही होता है तो उपासना का क्या फल मिला प्राणी भवती बोल दिया उपासना का फल गायत्र शाम उपासना का फल प्राणी भवती तो प्राण वाले तो सभी होते हैं जो उपासक और उपासक सब में बराबर होगा तो उपासना का फल क्या मिला ये शंका है अविदिशोपी जो अनुपासकोपी उपासक नहीं है जो व्यक्ति उसको भी प्राणित्व सिद्धेर प्राणित्व धर्म तो वहां भी है इसलिए निगम विद्या फल उपासना का फल तो नहीं हुआ ना ये शंका आ गई तो कहते हैं अरे बाबा प्राणी भवती माने प्राण वाले तो सभी होते हैं किंतु विकल इंद्रिया वाले हो जाते हैं अन्य किसी का आंख नहीं किसी का कान नहीं ऐसे हो जाते हैं किंतु ये व्यक्ति अविकल इंद्रिय वाला होगा या प्राणी भवती का अर्थ यह अर्थ है अविकल इंद्रियो होती एक अर्थ है अविकल कर्मो भवती प्राणी भवती का अर्थ कर दिया आगे कहते हैं ठीक है कथम पुनर् नाना जनीनम सर्वम आयुर् एको ध्याता गंतु मलम की आशंका सर्वम आयुरेति बोल दिया एक और तो। माने सारी आयु प्राप्त करता है नाना जनों की आयु कितने असंख्य प्राणी हैं सबके आयु प्राप्त करेगा वो ऐसा कैसे हो सकता है ये शंका है सबके आयु प्राप्त कर सर्वम आयु रेती माने सबके आयु सभी आयु प्राप्त करेगा चौरासी लाख योनि में जितने आयु है सब प्राप्त करेगा ये शंका है कथम पुनर् नाना जनीनम नाना जनों की जो आयु है संपूर्ण जनों की आयु जनीनम सर्वम आयु सबके आयु एको ध्याता कथम कम तुम अलम कैसे प्राप्त करने में समर्थ होगा वो सारे के आयु सर्वम आयु रेति बोला हुआ है संपूर्ण आयु को प्राप्त करेगा सारा आयु तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं अरे बाबा सारा आयु माने उसकी अपनी आयु पूरा करेगा सारे की आयु नहीं शतम वर्षाणी सर्वम आयु सर्व आयु का अर्थ है सौ वर्ष वही सर्व सर्व आयु है पुरुष से ऐसी स्थिति ये मनुष्यों की आयु सौ साल की है ऐसा सुना है श्रुति में कहा क्यों शतायुर्वय पुरुष की श्रुते युचते श्रुति कहते हैं शतायु ये मनुष्य जो होता है सतायु है सौ वर्ष की आयु वाला है ऐसा कहा है तो पूरा आयु करेगा बाकी अल्पायु में चले जाते हैं जो उपासक नहीं है वो जो उपासक होगा आयु होगा जुग शब्दों निपात जुग जीवती आए जुग माने अव्यय है वो निपात है अव्यय है सच उज्ज्वलनार्थ है वो उज्ज्वलन अर्थ में प्रकाश अर्थ में है माने एक प्रकाशित जीवन सभी उसके जीवन के बारे में जानते हैं आदर्श जीवन जुग जीवती का जीवन तो सभी का जाना है एक आदर्श जीवन पूरा करता है एक निंदनीय जीवन पूरा करता है कितना भेद होता है सच उज्ज्वल जीवन है उज्ज्वल उज्जवल शब्द करने स्व पर उपकार समर्थ है इत्यर्थ अपना भी उपकार करने में समर्थ है दूसरे के उपकार करने में समर्थ है ऐसा होगा जो जीव अधिकार स्व पर उपकार समर्थ अपना भी उपकार करेगा दूसरे को उपकार करने में समर्थ होगा ऐसा बनेगा ये कहा आगे मानता है अभिमंथ स अहिंकारो ध्रुवो जायते स प्रस्ताव ज्वलती स उद्गीतो अंगारा भवती स प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनम् संसाम्यति तन्निधनम् एतद्रथन्तरम् अग्नौ प्रोतम अभिमंथते सहिंकारो धूमो हो जायते स प्रस्ताव ज्वलते स उद्गीत अंगारा भवंते स प्रतिहार उपसाम्यति तम निधनम शमसाम्यति तम निधनम एतद्रथम तरम अग्नौ प्रोतम एक अरण्य मंथन करने की प्रक्रिया है जब बड़े यज्ञादि करते थे हमारे पूर्वज लोग यज्ञादि करते थे कि माची जला करके आग नहीं जलाते थे क्या करते थे लकड़ी दो लकड़ी एक नीचे एक ऊपर रखते थे एक बीच में रख करके रसी से ऐसे मथानी से दही मथते हैं ऐसे लकड़ी को घर्षण करते थे घर्षण करते करते वहां अग्नि प्रकट हो जाती थी वह शुद्ध अग्नि उसके द्वारा हवन होता था इसको अरणी मंथन कहा जाता है तो यही कहते हैं उसको लेते अभिमंथनी जो मंथन करता है अरणी का मंथन करता है अग्नि प्रकट करने के लिए हो तो अभिमंथन दृष्टि से हिंकार की उपासना करता है इसको रथंतर शाम कहेंगे ये जो इस मंत्र में आया हुआ रथंतर शाम कहा जाएगा या अग्नि संबंधी शाम है अभिमंथती सा हिंकार अग्नि के काष्ट का मंथन करता अग्नि प्रकट करने के लिए वो उस अभिमंथन क्रिया में हिंकार की उपासना करेगा अभिमंथन दृष्टि से कहा उसके बाद घर्षण करते करते धुआं निकलने लग जाता है उसमें धुआं या जाए थे जो धुआं निकलने लगेगा वो प्रस्ताव है घर्षण के बाद धुआं निकलता पहला ज्वलती से उदगित है जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती वो उदगित है और उदगित है अंगारा भवती सप्रतिहार जलने के बाद ज्वाला समाप्त हो जाती है तो कोयले बन जाते हैं लाल होकर के रहेंगे वो प्रतिहार है और उपसाम्य थे तन और बूझने लग जाती है अग्नि वो निधन होगा वो और समसाम्य थे तन निधन और बिल्कुल शांत हो जाती हो वो निधन है ऐसा कहा कि ये तत् रथम तरम अग्नो पुरतम ये रथंतर साम है अग्नि में प्रतिष्ठित है इन दृष्टियों के द्वारा हिंकार आदि की उपासना करनी है इसका नाम होता है रथंतर साम ये अग्नि में प्रतिष्ठित शाम है केवल अग्नि की चर्चा है अभिमंथन से लेकर के शांत होने तक कहा टीका में कहते हैं समग्र प्राणवतो मंथन करते संभव देखो अग्नि मंथन करना है शक्ति चाहिए शक्ति के बिना रस्सी खींच नहीं सकेगा मंथन क्रिया नहीं कर सकता ये समग्र प्राणवतो समग्र प्राण सबके संपूर्ण प्राण जिसके पास होगा विकल इंद्रिया नहीं है जिसके पास वही मंथन कर, क्रिया कर सकता है अग्नि अरण्य मंथन वही कर सकता है इसलिए प्राण दृष्टि अनंतरम मंथन आदि दृष्टि अवतार कहा इसलिए प्राण दृष्टि पहले की उसके बाद मंथन दृष्टि क्या अवतरण देते हैं कहा अभिमंथती इत्यादि शब्द भाष्य में कहा अभिमंथती स अहिंकार अभिमंथन दृष्टि से हिंकार की उपासना करेंगे प्रथम है माने अग्निमंथन में सबसे पहले मंथन क्रिया है और पांच प्रकार के सामने सबसे पहले हिंकार है प्राथम्य है दोनों और अग्नि धूमो जाए थे सब प्रस्ताव जब अग्नि निकलने लगे तो पहले धूम आ जाते हैं उसमें लकड़ी में वो प्रस्ताव है आनंद याद क्योंकि मंथन के बाद ये कार्य होता है धूम निकलता है और ज्वलती जब जलने लग जाता है हाँ, सब उदगी था उसको उद्गीत कहते हैं क्यों कहते हैं हवि संबंध अग्नि प्रज्वलित होने पर घृता आदि का संबंध हो जाएगा श्रेष्ठ है उस कार्य में अग्निमंथन में सबसे श्रेष्ठ जलन ज्वलन है वहां घृता आदि का संबंध होता है हवि का संबंध होता है हवि संबंधात श्रेष्ठम जलनस्य श्रेष्ठम जलनस्य हवि के संबंध उसके साथ होता है श्रेष्ठता है ज्वलन की और अंगारा बहुत ही जलते जलते आगे ज्वाला समाप्त हो जाती है कोयला होकर रहता लाल कोयले रहेंगे अंगार कहते हैं उसको अंगारा बनती सब प्रतिहार अंगारा प्रकृत अग्नि के जो कोयला होगा उसको इधर उधर ले जाया जाता है प्रतिहार होता है यहां से वहां वहां से उठा चिमटा से उठा के ले जाता है उपसम सावशेषत्वा उपसम मैंने क्या है उपसमम उपसम व्यतीत उपसम का अर्थ सावशेष है पूरा बुझा नहीं है कुछ बुझ गया ऐसे काल में उसका निधन कहा उपशम सावशेष अग्नि सावशेष उसमें है कुछ इसलिए उपशम कहा उपसाम्य बोला था समसमो निशेष उपशम समसम शब्द का अर्थ समसाम्यति का अर्थ पूर्ण रूप से शांत हो जाना समाप्ति हो जाना सामान्या निधनम समाप्ति सामान्य है उसमें इसलिए निधन है वो ये तत् रथंतरम अग्नो पुरोतम कहा यह रथंतर शाम है अग्नि में प्रतिष्ठित है शाम अग्निमंथन में मंथन ही अग्निर गीयत अग्नि के मंथन में इसका गान होता है रथंतर शाम का गान होता है जब अग्निमंथन क्रिया होती है यज्ञादि के लिए अग्निमंथन शुरू होगा पहले अग्नि चाहिए तो उसके लिए उस काल में इस रथंतर शाम का गान होता है भिन्न भिन्न शाम का भिन्न भिन्न कर्म प्रयोग होना है ठीक है ठीक है उपसम भेदात अर्थभेदात पुनरुक्ति में आशंका है उपसम और समसम उपसाम्यति समसाम्यति दो बार बोला निधन शब्द बोला दोनों के लिए अर्थ तो एक ही है तो पुनरुक्ति होगी शंका आ गई उपसम समसम इति अर्थ भेदात उपसम शब्द समसम शब्द उपसाम्यति समसाम्यति ये जो शब्द है अर्थ भेदाभाव अर्थ में तो भेद ही नहीं एक ही है अग्नि को शांत होना है दोनों में पुनरुक्ति में असंख्य पुनरुक्ति की शंका करके उत्तर देते हैं सावशेष निर्वश्यत्वाभ्याम विशेषवा उपसम में सावशेष अग्नि कुछ बची हुई होती है और सम सम में पूर्ण रूप से शांत हो जाती है ये भेद है ये विशेषता कहा उपशम सावशेष सत्वाद अग्रे भाष्य में कहा उपशम शब्द का अर्थ है अग्नि का सावशेष है उसका काल में और समसमो निशेष उपशम समाप्ति सामान्य देखा ठीक है कहते हैं प्रथम पुनः रथांतर सामनो अग्नो प्रतिष्ठित पुनर् का पुनः और रखा है ढलोपे पूर्व से दृढ़ लगा हुआ है कथम पुनः रतंत्र साम्राज्य तम कहते हैं कैसे हो सकता फिर रथंतर शाम अग्नि में प्रतिष्ठित है कैसे मानेंगे शंका है नहीं तत्र किंचित निमित्तम रहे थे अग्नि में प्रतिष्ठित होने में कोई निमित्त तो मिलता नहीं रतंत्र शाम के लिए रतंत्र शाम अग्नि में प्रतिष्ठित होता है इसमें कोई निमित्त तो है ही नहीं ये जो कहा तब तो कहते हैं उत्तर देते हैं अतः आह मंथने ही अग्निर्गीय थे अग्नि के मंथन काल में इसका गान होता है किसी रथंतर शाम का अग्नेर मंथने ही माने यस्मात अग्नेर मंथने गीयते अग्निमंथन काल में इसका काम होता है रथंतर शाम का ठीक है मंथनम निमित्त कृत्य अग्निर हो मंथन को निमित्त करके अग्नि उत्पन्न करना है आगे यज्ञादि करना है उसके लिए अग्नि उत्पन्न करना है ये जो माचिस घर्षण करके अग्नि अपवित्र मानते थे हमारे पूर्वज लोग आज तो सरल हो गया हाँ। आज तो हवन करना है चाहे सीता की अग्नि मिल जाए उसमें भी कर देंगे ये स्थिति हो गई मंथनम निमित्त कृत्य हो मंथन को निमित्त करके अग्नि की उत्पत्ति में रतंत्र सामनो की ये मानत्वाद जब मंथन क्रिया शुरू करते हैं अग्नि उत्पत्ति के लिए रतंत्र साम गाया जाता है उसका ये मान गा, गा, गाने योग्य होता है दर्शनार्थ अग्नौ तस्य प्रतिष्ठित सिद्धम इसलिए तस्य मैंने रतंतर से अग्नौ प्रतिष्ठित सिद्धम रतंत्र साम अग्नि में प्रतिष्ठित है यह सिद्ध हो जाता है आगे आगे कहना चाहते हैं इसका फल बताएंगे आगे या ये स या एवं तरम अभिनव प्रोतम वेद ब्रह्मवर्चसीय अन्नादो भवती सर्वेती योग जीवती महान प्रजया पशुर्भवती महान कीर्तिया न प्रत्यंग अग्निम आचामे न निष्ठिवे तद्व्रतम स एवं ये तद्रथंतरम अग्नो प्रोतम वेद ब्रह्म ब्रह्मवक्षसी अन्नादो भवती सर्वमायुरेति योग जीवती महान प्रजया पशुभिर्भवती महान कीर्त्या न प्रत्यंग अग्निम आचावे न निष्ठिवेद तत्प्रतम फल बता दे इस मंत्र में इस रथंतर शाम की उपासना करने अग्नि दृष्टि से रथंतर शाम की उपासना करे करता है उसके लिए फल स एवं ये तद अथम तरम अग्नव कुरुतम वेद जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से रथंतर शाम अग्नि में प्रतिष्ठित है ऐसा जो जानता है ब्रह्मवर्चसी अन्नाद होते ब्रह्मवर्चसी कहा ब्रह्म तेज माने आचरण जनित तेज और स्वाध्याय जनित तेज ये विद्वान में एक तेज है सामान्य लोग दब जाते हैं उसके सामने नम्र हो जाते हैं क्यों क्या डरते हैं उसमें एक तेज है ब्रह्म तेज कहते हैं उनको दूसरा है आचरण में भी एक तेज है जो आचारशील व्यक्ति होगा दूसरे लोग घबरा जाते हैं उसके पास जाते नहीं आचरण वृत्त वृत्त तेज और स्वाध्याय तेज इसको ब्रह्म वर्चस्व बोलते हैं आचरण का तेज आचरणवान पुरुष होगा उसे घबराते हैं दूसरे लोग अनाचारी घबराते हैं और स्वाध्याय माने शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति से अन्य लोग घबराते हैं इसको ब्रह्म वर्चस्व तेज कहते हैं आचरण जनित तेज और स्वाध्याय जनित तेज को ब्रह्मवर्चसी कहा और अन्नादो भवती हम्म। खूब अन्न खाने दृप्ताग्नि होगा वो एक तो तेज से युक्त होगा माने पठित होगा वो व्यक्ति आचरण युक्त होगा हम्म। ये दोनों होगा और तृप्ताग्नि होगा कोई भी अन्न भक्षण करे और पाचन क्रिया सही होगी और सर्वम आयुर्वेदी पूर्ण आयु जीवन होगा उसका ये रथंतर शाम की उपासना करने वालों का योग जीवती उज्जवल जीवन होगा ऐसी स्थिति होगी माने स्वपर उपकार के करने में समर्थ होगा अपना भी उपकार करने में सामर्थ्य आएगा योग जीवती का अन्य का भी उपकार करने में सामर्थ्य होगा और महान प्रजा पशु भति प्रजा और पशुओं से महान हो जाता है धनी प्रजाओं की धनी संतानों की धनी पशुओं की धनी होगा और महान कीर्ति या कीर्ति से भी ख्याति से भी महान होगा वो किंतु उसके लिए व्रत है जो रथंतर शाम की उपासना करता है न प्रत्यग्न अग्निम आचारे अग्नि के सामने खाए नहीं बैठ करके भोजन न करे प्रत्यंग अग्निम प्रत्यंग आगे अग्निम है नमो हर्षवाद जी ममोचम सूत्र लगा हुआ है मुठ का आगम हुआ है न प्रत्यंग अग्निम आचामेद कहा चमो अगने धातु है आचामे करता खाए नहीं अग्नि के सामने सम्मुख भोजन न करे उसके लिए व्रत है दूसरी बात अग्नि के सामने न निष्ठिवे थूके भी नहीं वहां ये दो उसके लिए व्रत है दो काम न करे वो स्वतंत्र शाम के पास है एक तो अग्नि के सामने बैठ के भोजन न करे और दूसरा अग्नि के सामने थूके नहीं दो व्रत है उसका भाष्य टीका देखें भाष्य में टीका में कहते हैं भाष्य में अच्छा सय इत्यादि पूर्वक सय आदि पूर्वक है जो कोई भी हो यथ रथंत्र मग्नो क्रोतम व्यत इत्यादि यहाँ आगे उसका फल बताया ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवती यहाँ से फल वाक्य शुरू हुआ तो फल है ब्रह्म वर्चसी में दो है ब्रह्म वर्चस शब्द है औ रूप औ का रूप है नपुंसक लिंग में और को सी आदेश करके ब्रह्म परचय बोला दो ब्रह्म परचय दिखाई देगा इसका माने क्या पे दो तेज दिखाई पड़ेंगे इसलिए ब्रह्म वर्चसी करके बोला है तो दो तेज क्या है कहा वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चसम वृत्त माने होता है आचरण और स्वाध्याय ये दोनों से उत्पन्न होने वाले जो तेज है उसको कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व आचरण से भी तेज पैदा होता है दूसरे व्यक्ति दबता है उसके सामने आने में डरता है जो आचरणशील व्यक्ति होगा और एक पठित व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति आना डरता है यही है वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्मवर्त वृत्त माने आचरण और स्वाध्याय पठन माने ग्रंथ का अभ्यास ये दोनों से जनित जो तेज होगा इस तेज को कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व ऐसा बताया और ब्रह्म तेजस्तु केवलम पीड़वा आगे तेजस्वी भवती आएगा आगे तो यहां ब्रह्मवर्चस बोलेंगे आगे तेजस्वी बोलेंगे क्या फर्क पड़ेगा कहते हैं ब्रह्मवर्चस का अर्थ करना है आचरण जनित तेज और स्वाध्याय जनित तेज और वह तेजस्वी का शरीर की कांति सुंदरता आगे तेजस्वी शब्द आएगा तेजस्वी भवती इत्यादि आएगा आगे उसके लिए समझना तेजस्वी शब्द में और ब्रह्मवर्चस शब्द में भेद है ये बताया तेजस्तु केवलम पीट भाव तेज शब्द जो है शरीर की जो छवि है कांति है सौंदर्य है उसको तेज कहते हैं ऐसा समझना था और अन्नादो भवती था मान दीप्ताग्नि प्रदीप्त अग्नि वाला कुछ भी खाओ पाचन शक्ति ठीक है उसकी ऐसा रहेगा किंतु उसके लिए दो व्रत हैं क्या है न प्रत्यंग अग्निम आचामित एक व्रत अग्नि के सामने भोजन न करे और दूसरा न निष्ठवेद अग्नि के सामने थुके न तो दो व्रत है न प्रत्यम अग्नि अग्निर अभिमुखो ना चामेत अग्नि के सामने में भोजन न करे उसके लिए रथंतर शाम उपासना करने वाले के लिए व्रत है और दूसरा नभक्षय उसी का अर्थ नभक्षय किंचित दूसरा न निष्ठभेद लेस्म निरसन च न कुरिया थूक न निकाले वहां मलगम न निकाले दो काम न करे कहा ठीक है देखें ननु अत्र ब्रह्मवर्च से फलम बोलता हूं यहां पर कहा रतंत्र शाम उपासना में फल बताया ब्रह्मवर्च से भगवती बोल दिया ब्रह्मवर्चस फल बताया बृहद उपासना आगे बृहद शाम का उपासना आएगा चतुर्दश खंड में अभी तो हम द्वादश खंड में है जब चतुर्दश खंड में बृहद शाम की उपासना आएगी उसमें तेजस्वी भवती विपक्ष तेजस्वी भगवती ऐसे शब्द आएगा चतुर्दश खंड में आएगा ये तो ये दोनों में क्या अंतर है यहाँ ब्रह्मवर्चस शब्द बोलते हैं और वहां तेजस्वी बोलेंगे बृहत शाम की उपासना में रथांतर में बोलिए ब्रह्मवर्चसी भवती और बृहत शाम की उपासना चतुर्दश करने में तेजस्वी भवती बोलेंगे तो क्या भेद है इसमें शंका आ रही न तो ब्रह्मवर्चस और भेद यही है शंका ब्रह्मवर्चस शब्द का अर्थ तेज शब्द का अर्थ कोई भेद तो है नहीं एक ही है तथा बृहत रथम तलयोर उपासनयोर न फल वैषम्यम इसलिए क्या सिद्ध होगा बृहत शाम की उपासना और रथंतर शाम की उपासना शाम उपासना दो हो जाएंगे किंतु फल एक ही होगा ये शंका आ गई फल में विषमता नहीं होगी ये शंका आ गई इसलिए दोनों के भेद कर देते हैं क्या किया ब्रह्मवर्त शब्द का अर्थ वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज ऐसा है और तेजस्वी शब्द का अर्थ जो आएगा उसका शरीर संबंधी तेज शरीर की सुंदरता ये भेद है ठीक है <clears throat> अच्छा आगे वामदेव्य श्याम है ये गृहस्थाश्रमी के लिए है तो इसको यहां पढ़ना ठीक नहीं है या अपने अपना स्वाद अपने आप देखें कि मैथुन क्रिया संबंधी है गृहस्थाश्रमियों का धर्म गृहस्थाश्रम धर्म का है तो यहां इसको मतलब आगे आगे बृहत्म उपासना चतुर्थ खंड है उद्यम हिंगार उदित प्रस्तावो मध्यंजन उद्गीतो अपराह्न प्रतिहारो अस्तम यदनम एतद बृहदादित्य प्रोतम उद्यन हिंकार उदित प्रस्तावो मध्यंजन उद्गीतो अपराह्न प्रतिहारो अस्तनिल निधनम एतद बृहद आदित्य प्रोतम ये बृहद साम है आदित्य में प्रतिष्ठित है सूर्य जो उदय होने का उदय होने वाले हैं उस दृष्टि से हिंकार की उपासना करें उद्यम उगता हुआ अभी पूरा आया नहीं उस दृष्टि से हिंकार भक्ति की उपासना करें और उदिता जब उदय हो जाता है सूर्य उस दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करे प्रस्ताव जब मध्यान्ह हो जाता है दिन उदगित उदगित दृष्टि माने मध्यान्ह दृष्टि से उदगित भक्ति की उपासना करे और जब अपराह्न होगा तीन बजे के बाद होगा तीन बजे करीब होगा तो उसको कहेंगे प्रतिहार वो अपराह्न दृष्टि प्रतिहार भक्ति की उपासना करे और अस्तम जो अस्त होगा सूर्य उस तद दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे तद बृहत आदित्य प्रोतम ये बृहत शाम की उपासना है आदित्य में प्रतिष्ठित है मैंने सभी पांचों अवय आदित्य संबंधी दिया है यहाँ उद्यम उदित मध्यम मध्यम और मध्यम दिना और अपराह्न और निधन ये अस्तम दिया पांचों के पांचों आदित्य के अवय में है जो तो आदित्य में प्रतिष्ठित है ये बृहत शाम उपासना ये बताया अच्छा ठीक है कहते हैं आदित्य से प्रजा प्रसव हेतुत्व तद हेतु मैथुन दृष्टि अनंतरम आदित्य दृष्टि उठा कहते देखो आदित्य क्या करते हैं प्राणियों की माने पैदा करने के लिए आदित्य होते हैं किसी कोई ना कोई पैदा होगा किसी दिन में पैदा होगा आदित्य होते हैं आदित्य से प्रजा प्रसव हेतुत्व प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु है आदित्य इसलिए तद हेतु मैथुन प्रजा उत्पत्ति के हेतु जो तो मैथुन क्रिया संबंधी पूर्व में बताई गई थी त्रयोदश खंड में बांग के सामने मैथुन दृष्टि अनंतरम आदित्य दृष्टि में उत्थापन है इसलिए मैथुन दृष्टि के बाद आदित्य दृष्टि के उत्थापन करते हैं कहा भाष्य में कहते हैं उद्यम सविता सहिंकार जब उग्र है अभी सूर्य पूर्व दिशा में ऐसे सविता दृष्टि से हिंकार की उपासना होगी प्राथम्या क्योंकि आदित्य में सबसे पहले उगना उदय काल है उदित माने उदित होने का समय होता है और शाम में पहले ही कार है प्राथम है प्राथम्य दर्शन से उपासना प्राथम्य है उदित प्रस्ताव जो सूर्य उदित हो गए उसको प्रस्ताव करेंगे प्रस्ताव हेतु तो क्यों सूर्य उदय होने पर सब प्रस्ताव करते हैं सब प्रस्तुति आदि करते हैं मनुष्य कर्मणाम प्रस्तम हेतु था कर्मणाम कहा कर्मों का प्रस्ताव के हेतु बन जाते हैं सभी अपने में कर्मों में लग जाते हैं सूर्योदय होने पर मध्यम दिना उदगीत जब मध्यान्ह होगा उस दृष्टि से उदगीत क्यों श्रेष्ठ है दिन में श्रेष्ठ मध्यान्ह होता है और उद उदगीत है श्रेष्ठ है अपराह्न प्रतिहार और अपराह्न दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करें क्यों पशु आदि नाम गृहान प्रतिहार जब अपराह्न हो जाता है पशुओं को घर की तरफ लाया जाता है जंगल से ऐसा देखा है यद अस्तम तद निधनम जो अस्त है उसको निधन कहते हैं अस्त दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना क्यों रात्रो गृह निधनात् प्राणिना सबका निधन हो जाता है प्राणियों का निधन स्थापित कहाँ होता है घर में होता है रात्रि में बाहर काम नहीं करते रात्रि में घर में होते हैं सब ये तो बृहद आदित्य पूर्वतम ये बृहद शाम की उपासना है आदित्य में प्रतिष्ठित है बृहद आदित्य दैवत्या दैवत्या कहा बृहद शाम आदित्य दैव देवता वाला है ये ठीक हो गया ठीक है तो। अच्छा आगे इसका फल बताते हैं स एवं ये तद बृहदादित्य प्रोतम वेद तेजस्वी अन्नादो भवती सर्व आयुरेती यो जीवती महान प्रजया पशुवीर्भवती महान कीर्त्या अपंतम न निंदे स सवं ये तद बृहदादित्य प्रोतम वेद तेजस्वी अन्नादो भवति सर्वं आयुरेति जीवती महान प्रजया पशुवीर्भवती महान कीर्त्या तपंतम न निंदे तत्व्रतम कहते हैं इसका फल बता रहे हैं साया एवं एतद बृहद आदित्य प्रोतम है जो बृहद शाम की उपासना है आदित्य में प्रतिष्ठित है जो जानता है उसके फल होगा तेजस्वी और अन्नादो होती शरीर की छवि अच्छी होगी सौंदर्य अच्छा होगा उसका एक दूसरा अन्नाद होगा अन्नम अतिथि अन्नाद अन्न भक्षण करने में समर्थ होगा तो फल और सर्वम व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा और जोग जीवती स्वपर दोनों को उपकार करने की शक्ति विशिष्ट होगा और महान प्रजया पशु भक्ति वैसे ही है प्रजा और पशुओं से महान होगा महान कीर्ति अख्याति से भी महान होगा किंतु उसके लिए व्रत है जो बृहद शाम की उपासना करता है उसके लिए तपंतम न निंदे तत्प्रतम सूर्य जब गर्मी के दिनों में तपाता है तो उसकी निंदा न करे इतना परेशान करता है ऐसा न बोले तपंतम सूर्यम न निंदे तो तपा रहा है सूर्य गर्मी कर रहा है ऐसे सूर्य की निंदा न करे ये व्रत है उसके लिए कहा आगे <clears throat> वैरूप शाम की उपासना मैंने हम्म। वृष्टि दृष्टि से करना है मेघ दृष्टि से करना है इसके लिए है वैरूप शांत उपासना आया अप्राणी संप्लवंते सहिंकारो देहो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृणाति तन्निधनम एतद वैरूपम पर्जन्य प्रोतम अब्राणी संप्लवंते सहिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्गी विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृहणाति तन्निधनम् रूपम पर्जन्ये प्रोतम पर्जन माने दृष्टि एक तो नदी में बहने वाला जल है और एक वृष्टि वाला जल है वृष्टि वाले जल दृष्टि से हिंकारादि उपासना करना है इसको बैरूप शाम की उपासना मानते हैं अभ्राणी संप्लवंते सम्यक प्लवंते गच्छंती प्लुगत प्लुंगत माने जब समुद्र से ऊपर की तरफ बाष्पीकरण होकर आते हैं उस काल में अभ्र बोलते हैं बादल समुद्र का जल बाष्पीकरण होकर ऊपर आता है पानी यहां का पानी ऊपर जाता है और जो घनीभूत हो जाता है उस काल में मेघ बोलते हैं उसको जो बरसने की पूर्व अवस्था वहां दो अवस्था हो जाती है पहले तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसका अभ्रम हो अभ्रम और जब घनीभूत हो जाएंगे नीचे बरसने की तैयारी होगी उस काल में बेग्राम होता है ठीक है अभ्राणी संप बनते जब बादल बनकर ऊपर जा रहे हैं उस काल वो दृष्टि से हिंकार की उपासना करें और मेघो जाए थे जब नीचे से बाष्पीकरण होकर के जा रहे थे तो घनीभूत हो जाते मेघ बन जाता है वो बरसने की तैयारी होती है उसको कहते हैं प्रस्ताव मेघ दृष्टि से करना है प्रस्ताव बरसने वाले बादल को मेघ बोलते हैं ऊपर जाता हुआ को अभ्र बोलते हैं कितना भेद है तो यहीं का जल ले जाना है वही जल फेंकना है ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कहीं ऊपर से नहीं फेंकते यहीं से लेते हैं वहीं से फेंकते हैं ऐसे होता है तो अब्राणी संप्लबंधे संकारो मेघ जाते प्रथा बरसती से उदगी था बरसना सर्वश्रेष्ठ है तो इसलिए वर्षण दृष्टि से उद्गीत पंक्ति की उपासना करे विद्युत स्तन जब बारिश होती है बिजली भी चमकती है गड़गड़ाहट भी होता है दोनों होता है इसको प्रतिहार समझना और उदगृहणाति तन निधन बाद में जो शांत हो जाता है जल बंद हो जाता है उसको निधन समझना ये कहा ये तब वैरूपम पर्जन्य प्रोतम ये वृष्टि में ये प्रोत है बहने वाले जल में प्रोत नहीं प्रतिष्ठित नहीं है वृष्टि वाले जल में प्रतिष्ठित स्थान कहा टीका में कहते हैं आदित्य जायते पृष्टि स्मृति मनुस्मृति में है अग्नौ प्रस्तावती सम्यक आदित्य उपतिष्ठते आदित्य जायते पृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा ऐसा मनुस्मृति में आया जब यहाँ अग्निहोत्र करते हैं अग्नि में हवन करते हैं आप तो हवन क्या होता है तो यहां से बाष्पीकरण होकर के हवन के पदार्थ ऊपर सूर्य खींचते हैं अपने पास ले जाते हैं अग्नव प्रस्ताव सम्यक सम्यक प्रकार से डाली गई जो आहुति है घृतादि आहुति वो आदित्य को प्राप्त होती है और आदित्य जायते वृष्टि आदित्य अपने पास नहीं रखते दृष्टि रूप से नीचे गिरा देते हैं उसको आपने यहां से हवन करके ऊपर को दिया आदित्य को दिया और आदित्य नीचे उसको बदल करके जल बना करके नीचे गिरा देते हैं जल वर्ष में क्या होगा अन्न पैदा होगा और अन्न से मनुष्य आदि प्राणी पैदा हो जाते हैं क्योंकि ये माता पिता के खाया हुआ अन्न का सप्तम धातु के बना हुआ है अन्न से ही बनता है तो आदित्य जायते दृष्टि ऐसा वृद्धि की शब्द है ये अग्नव की संगत आदित्य उपतिष्ठते आदित्या जायते दृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा ऐसा आया एक कहा अदित्या जाति वृष्टि स्मृतिर आदित्य कार्य पर्जनश्य जो वृष्टि जो काम है ना परजन्य वाली वृष्टि क्या आदित्य का कार्य है आदित्य करते हैं कराते हैं दृष्टि आदित्य दृष्टि अनंतरम पर्जन दृष्टि तो इसलिए आदित्य दृष्टि पूर्व में हो गई बृहत्साम उपासना में अब उसके बाद में पर्जन दृष्टि दृष्टि दृष्टि पर आते हैं अभ्राणी इत्यादि भाषा में कहा अभ्राणी अभ्रणात मेघ उदस्यक्तृत्व देखो ये अभ्राणी क्यों कहा अब अभरणात जल को भरते हैं ऊपर की तरफ में इस काल में अभ्र बोलते हैं अब भरणात अभ्र ऐसा है अब माने जल उसको भरण करते हैं इसलिए उसको अभ्र कहा जाता है बटोरते इकट्ठे करते हैं ऊपर ले जाते हैं और मेघ माने तो उदक से कृत्व जल का सिंचाई करने वाले को मेघ बोलते हैं जब नीचे गिराने वाला है उसको मेघ बोलते हैं अभ्र और मेघ में अंतर है वो उदक क्रिय है शिक्षक क्षरण धातु माने जल को सिंचाई करने वाला है अब उसको कहेंगे वेग उसके पूर्व काल जब वहां भर रहे थे नीचे के जल ऊपर पे इकट्ठा कर रहे हैं उस काल में कहते अभ्रपुर वेग और अभ्र में अंतर है बता दिया उत्तर मैंने बाकी सब पहले जैसे यहां कह दिया ये तद वैरूपम नाम साम पर्जन्य प्रोतम ये वैरूप नाम साम है ये जल में माने कौन सा जल वृष्टि रूप जल में प्रतिष्ठित है नदी के जल में नहीं अनेक रूपत्वाद अपराध भी पर्जन से वैदिक क्योंकि यहां पर देखा अब्र से लेकर के यहां तक जा उदगीर्ण तक जाने के लिए अनेक रूप दिखाई पड़ता है जल का अनेक रूपत्वाद इसलिए उसका नाम पर कर दिया बैराज ये नाम दिया अपराध भी पर्जन से वैरूप्यम अपराधी से लेकर के अब्र से लेकर के पर्जन्य तक जितने भी है बहिरूपता है इसलिए इसको बैराज शाम बोल दिया ये बोल दिया बैरूप शाम कह दिया अच्छा। ठीक है हम कहते हैं कथम बैरूपम शाम तस्मिन प्रतिष्ठम बैरूप शाम कैसे जल में प्रतिष्ठे कहा अनेक रूपत्वाद बोल दिया अनेक रूप है अपराधी परिजन से वैरूपम जल में अनेक रूप हो जाते हैं वहां से लेकर यहां तक सूखने तक अच्छा। इसका फल बताएंगे स एवं एतद वै रूपम पर्जन्य प्रोतम वेद विरूपाश स्वरूपाश पशुन अवरुंधे सर्वमायुरेति यो जीवती महान प्रजया पशुवीर्भवती महान कीर्त्या वर्षंतम न निंद्यत व्रतम सय एवं एतत् बहिरूपं पर्जन्ये वेद विरूपाश्च पशुन अवरुंधे सर्वम् आयुरेति योगजीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या दर्शन्तं न निन्द्यत् तद्व्रतम् स जो कोई भी व्यक्ति हो एवं इस प्रकार से ये तद वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेद अग्र से लेकर के उदगीर्ण तक जो जल का स्वरूप दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार वैरूप शाम की पर्जन्य में प्रोत है जल में प्रोत है ऐसा समझ मान प्रतिष्ठित ऐसा जानता है उसके यहाँ क्या होगा फल होगा विरूपांश स्वरूपांश पशु अवरुद्ध अपने गोष्ठ में पशु को रोके रखेगा माने गोष्ठ खाली नहीं होगा उसका भेड़ बकरी आदि जो विरूप है भिन्न भिन्न रूप वाले भेड़ बकरी आदि पशु गाय भैंस आदि ऐसे और स्वरूपन सुंदर सुंदर स्वरूप विरूप मान विशेष रूप भिन्न भिन्न रूप वाले अनेक आकार वाले और स्वरूप मान सुंदर रूप वाले ऐसे पशुओं को रोकता है माने उसके गोष्ठ खाली नहीं होगा उसके गौशाला कभी खाली नहीं होगी और रुके रहेंगे और सर्वम आयुर्वेदी सभी आयु को प्राप्त करेगा योग जीवती उज्जवल जीवन होगा महान प्रजा भवती महान कीर्तिया प्रजा से पशु से कीर्ति से महान होगा किंतु उसके लिए व्रत है बरसंतम न निंदे बारिश ज्यादा होने पर निंदा करे कपड़ा भी नहीं सूख रहा है ऐसे ऐसे निंदा करे व्रत है उसके लिए कहा भाष्य में कहते हैं विरूपांश स्वरूपांश अजा अभी प्रवृत्ति पशु न बोलेगा और स्वरूप सुंदर सुंदर दिरूप माने क्या अजा अभी भेड़ बकरी आजाद बोलते हैं बकरी को अभी कहते हैं भेड़ को भेड़ बकरी आदि जो है बहुत सारे पशु अपने गोष्ठ में रोकता है अवरुंदे मैंने रोकता है रुद्र आवरण धातु है रोक रोकता है मैंने उसके यहां पशु खाली नहीं होंगे प्राकृतिक करता है बरसंतम जब वर्षा हो रही तो उसकी निंदा न करे मेघ की निंदा न करे उसके लिए प्रत है ऐसे बता दिया अच्छा बस नहीं रखते फिर करेंगे ओम आप्यायन्तु महाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्रोत्रमथो बलन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्म ब्रह्म धर्मास्ते मयि ओम शांति शांति